अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र के लिए तो हमको क्या करना चाहिए उनका दुख मिटाने के लिए नारद जी ने भक्ति जी को बहुत आश्वासन दिया था कि तुम्हारी महिमा तो बहुत बड़ी है तुम्हारा आश्चर्य लेकर के लोग सब दुखों से पार हो जाते हैं तुम स्वयं दुखी रहो ये तो संभव ही नहीं है फिर संत कुमार जी ने उनको भागवत के श्रवण की विधि बताई नारायण वैसे तो नारद जी को भागवत पहले से ही प्राप्त है यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुतमेत सुदर्शिना ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद तो ये जो भागवत की परंपरा है वो एक तो है नारायण से लक्ष्मी को और लक्ष्मी से नारायण को उसमें किसने किसको भागवत बताया ये बात बताने ये बात कहीं नहीं जा सकती अनिर्वचनीय है क्योंकि अनुग्रह की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी नारायण को भागवत सुनाते हैं एक महीने में पूरा और नारायण पंद्रह दिन में पूरा भागवत लक्ष्मी जी को सुनाते हैं तो ये अनाद काल से ये बात रोज उनके घर में कथा होती है लक्ष्मी जी करते हैं महीने भर में और नारायण करते हैं पंद्रह दिन में ये रोज वैकुंठ में श्रीमद भागवत की कथा चलती रहती है है नारायण तो नारायण ने सुनाया ब्रह्मा को और हाँ, ब्रह्मा ने सुनाया नारद को और नारद ने सुनाया व्यास को और व्यास ने सुनाया सुख को ये जो सुखदेव है ये शब्द रूप ही है ये जो सुख होता है जिसको हम लोग तोहफा कहते हैं वो चाहे समझे कि न समझे जो सुना हुआ रखा हुआ होता है उसको सुनाता है शब्द मूर्ति है सुख नारायण हैं और अब बाल मूर्ति है वाणी की मूर्ति है व्यास जी और मन की मूर्ति है नारद और पूरे चित्र की अंतकरण की बुद्धि की मूर्ति है ब्रह्मा और नारायण जो है वो साक्षात परमात्मा है तो परा वाणी जो है वो नारायण से प्रकट होकर के ब्रह्मा को प्राप्त होती है और ब्रह्मा से नारद को नारद से व्यास को और व्यास से सुखदेव को ये जो श्रीमद भागवत है ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान होने लगे थे तो उद्धव जी ने उनके पांव पकड़ लिए और पांव पकड़ के कहा कि प्यारे श्याम सुंदर तुम ये धरती छोड़ के मत जाओ क्योंकि तुम्हारे जाने पर लोगों को बहुत दुख होगा बहुत पीड़ा होगी लोगों का दुख और दारिद्र दूर करने वाला दूसरा कोई रहेगा ही नहीं तो आप इस धरती को छोड़ करना जाओ श्री कृष्ण ने कहा अच्छा हो तो हम तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं हर बार तो हम यहाँ से जब जाते थे तो बैकुंठ में चले जाया करते थे गोलोक में जाया करते थे अब भी हम बैकुंठ गोलोक में नहीं जाएंगे प्रविष्टो प्रविष्टोयम श्रीमद भागवत भागवतारणवम अब की क्षीर सागर में नहीं जाएंगे अब तक भागवत अब हम भागवत समुद्र में निवास करेंगे धरती पर जब जो कोई चाहेगा वो श्रीमद भागवत के द्वारा हमारा दर्शन कर सकेगा हमको प्राप्त कर सकेगा नारायण तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी ने नारद जी को तो पहले सुनाए ही है परंतु श्रीमद भागवत के प्रति इतने लालची हैं बड़े बड़े महापुरुष उधर शेष जो है वो सनत कुमारों को सुनाते हैं और सांख्यायन को प्राप्त होता है बृहस्पति को प्राप्त होता है बृहस्पति से उद्धव जी को बृहस्पति जी ने साक्षात उद्धव जी को श्रीमद भागवत का श्रवण कराया था नारायण तो एक परंपरा वहां से शेष जी आए बलराम के रूप में और बलराम ने रोम हर्षण सूत को मिला करके और उसके स्थान पर अपनी शक्ति से उग्रस्तरवा सूत्र को स्थापित कर दिया तो शेष परंपरा में भी भागवत आ जाता है शेष भगवान इसके बक्ता है उधर नारायण बक्ता है इधर शंकर जी पार्वती जी को सुनाते हैं तो शिव परंपरा में होने से ये मंत्र रूप भी हो जाता है तो भागवत के एक एक अक्षर मंत्र है जैसे सावर मंत्र होते हैं और उनके जप से पाठ से सारे दुख दूर होते हैं इसी प्रकार ये श्रीमद भागवत से एक एक अक्षर शंकर जी के संकल्प से अनुप्राणित हैं इसमें शंकर जी का संकल्प भरा हुआ है और इससे जो कोई जो कुछ चाहे वो उसको प्राप्त हो सकता है फिर कम समझ कुमारों ने नारद जी को भागवत का महात्म्य भी सुनाया और भागवत किस रीति से करनी चाहिए ये भी बताया नारायण जब सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया नारद जी लौट करके आए और उन्होंने नारायण श्रीमद भागवत की कथा करी उस कथा के श्रवण मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य जीवित हो गए और भक्ति सुखी हो गई और वहां तो भागवत की कथा में जब सब लोग सुनने के लिए आए बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े तीर्थ वेद शास्त्र पुराण सब के सब मूर्तिमान होकर के श्रीमद भागवत की कथा सुनने के लिए आए क्योंकि भागवत की कथा जहाँ होती है वहाँ साक्षात नारायण ब्रह्मा शंकर ये सब आते हैं और नारायण वो श्रीमद भागवत का श्रवण करते हैं गुप्त रूप से हनुमान जी तो पहले ही आकर के वहाँ बैठ जाते हैं और श्रीमद भागवत का श्रवण करते हैं उद्धव जी आते हैं लेकिन जब मूर्तिमान होकर के ज्ञान वैराग्य और भक्ति भागवत की कथा में आए इस समय भी आपके हृदय में आ रहे हैं उन्होंने पूछा कि हम बैठे कहा तो बोले जो भगवान के भक्त यहाँ बैठे हुए हैं उनके हृदय में तुम वैष्णव के मन में जिनकी विष्णु पर आस्था है नारायण पर आस्था है उनके हृदय में तुम तीनों हार करके बैठ जाओ और जब भक्ति देवी ने लोगों के हृदय में प्रवेश किया ज्ञान और वैराग्य आए तो सबका मन उल्लसित हो गया और सब भगवान के नाम आ, के प्रेम में मगन हो गए भगवान के रूप के प्रेम में मगन हो गए आंखों से आंसू और नारायण शरीर में रोमान और हृदय कंठ गदगद और हृदय पुलकित और सबको भगवान के दर्शन होने लगे कि ये तो साक्षात भगवान का भगवान का दर्शन कराने वाली ये भागवत की कथा है थोड़ी देर आप लोग कीर्तन करें बाबा Yeah, हाँ, I नारायण नारायण नारायण Amen. वो कैसी थी वन में मिले सन्यासी ब्राह्मण ने आग्रह किया कि हमको पुत्र होना चाहिए सन्यासी ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है परंतु उन्होंने जब बहुत आग्रह किया तब उन्होंने अपने संकल्प से पुत्र दे दिया फल दिया एक आम दिया बहुत बढ़िया फल दिया उनको वो लेकर जब घर में गए तो उनकी पत्नी ने तो खाया नहीं क्योंकि पतिदेव का तो मन था कि हमारा वंश चले और पत्नी के मन में ये था कि हम गर्भ धारण करेंगे तो बड़ा कष्ट होगा आजकल की स्त्रियां जो हैं हाँ, तो वो नारायण परिश्रम से बचने के लिए कष्ट से बचने के लिए तपस्या से बचने के लिए अनेक उपाय करती रहती हैं तो वो जो धुंधुली जी थी उनका उनकी उनके लक्षण ऐसे बताए हैं हाँ, कि सौभाग्य स्थापिका नित्यम जो उनके मुंह से निकल जाए वही होना चाहिए और गांव में कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें पहुंच के स्वयं एक पक्ष लेकर के बोलने लगती थी और बोलती बहुत थी क्योंकि जो बहुत बोलता है वो झूठ जरूर बोलता है और वो दूसरों को तकलीफ जरूर पहुंचाता है ये बहुत बोलने का आप देख लेना बहुत बोलने वाला आदमी झूठ जरूर बोलता होगा और दूसरों को तकलीफ से पहुंचावेगा और अपनी अपनी बात पर जिद करेगा दूसरे की बात समझने की कभी कोशिश नहीं करेगा तो उन्होंने तर्क वितर्क करके वो फल तो खाया नहीं गाय को खिला दिया और अपनी बहन से सलाह करके एक धुंधुकारी नाम का पुत्र उन्होंने उत्पन्न किया अब आत्मदेव जो ब्राह्मण को थे उनको तो पुत्र होने पर भी नारायण धुंधुकारी करते हुए उनको तकलीफ देने लगे तो वो तो चले गए तपस्या करने और दसम स्कंद का पाठ करके उन्होंने आदिदैविक रूप से गोलोक को प्राप्त किया भगवान के धाम में चले गए और वो जो तीसरा विभाग है वो आदि भौतिक विभाग है कि धुंधुकारी जो है और उन्होंने बड़ा उधम बचाया धुंधकारी उधम बचाने वाले होते ही हैं अब उसका हल ये हुआ कि वो अनाचारी विचारी हो गए और पिता के मरने के बाद तो माँ से भी सब पैसा ले लिया और उसको भी मारा पीटा मर गई वो और नारायण इधर उधर से चोरी से बीमारी से क्योंकि जब आदमी होगा सख्त हो जाता है तब दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है नानुप हक भूतानी भूगत संभवती भगवान नारायण व्यास कहते हैं पातंजल भाष्य में जो भाष्य में नानुप हक भूतानी संभव संभवती जब तक मनुष्य दूसरों को तकलीफ नहीं देगा तब तक वो ज्यादा भोग नहीं कर सकता स्वयं जब भोगी बनेगा तो दूसरे को तकलीफ देगा वो तो साफ हो जाएगा संस्कृत में भोगी माने साफ होता है दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला बन जाएगा अब वो तो कष्ट पहुंचाने लगा तब जो पांच उन्होंने बाजू पाल उसने बाजोरी और बाजारू औरतें रख छोड़ी थी पांच वो इंद्रिय जो है पांचों इंद्रिय हाँ, इनको पंच पैण्य बधु कृता ये पांचों बाजारू औरत हैं ये घर में रहना पसंद नहीं करती है इनकी नजर हमेशा बाहर रहती है बाजार से ये लाओ बाजार से वो लाओ एक तो ये बात हुई और दूसरे बाजार में औरत माने वेश्या उसने पांच वेश्याएं पाल रखी थी घर में और उन्हें भोग देने के लिए धन की आवश्यकता होती थी क्योंकि कान को भी सुंदर भोग चाहिए आंख को भी चाहिए त्वचा को भी चाहिए नाक को भी चाहिए जीव को भी चाहिए और ये एक निष्ठ तो होती नहीं है तो जगह जगह से उसको पैसा लाना पड़ता चोरी करके डाका डाल के अब एक दिन जब बहुत धन लाया तब इन स्त्रियों ने सोचा कि ये तो पकड़ा जाएगा मारा जाएगा धन भी जाएगा तो उसी को मार के उन्होंने कुएं में डाल दिया तो आत्मा का कभी नाश तो होता नहीं है एक शरीर वाला रूप तो रहता है भौतिक एक वासनामय रूप रहता है इस जीव का और नारायण वो वासनामय रूप जो है वो शरीर छूटने पर भी अपनी वासना के अनुसार बना रहता है जैसे आप कभी स्वप्न देख रहे हो स्वप्न में आप कुछ बन के कुछ खरीद रहे हो कहीं रो रहे हो कहीं खा रहे हो पी रहे हो वो आपका एक शरीर स्वप्न में बन जाता है उसी समय यदि इस स्थूल शरीर से संबंध टूट जाए तो आपका वो स्वप्न जो है वो बहुत स्थायी बन जाएगा स्वप्न तथा पश्चिम देह हमी दृशम अब वो स्वप्न कब टूटेगा यदि ये शरीर रहता तब तो टूट भी जाता लेकिन अब वो स्वप्न में जो शरीर आपने धारण किया है वो कब टूटेगा इसका कुछ पता नहीं रहता है तो वो वासनामय शरीर जो है वो स्वप्न के तंतुओं से ही बनता है स्वप्न की वासनाओं से ही बनता है परंतु जितना वासना में वेग होता है उतना स्थायी होता है तो कोई मरने के समय मूर्छित हो जाता है कोई मरने के समय बिना स्थूल शरीर के भूत प्रेत होकर भटकने लगता है किसी का पुनर्जन्म हो जाता है कोई पितृलोक में जाता है कोई देवलोक में जाता है कोई नरक में जाता है कोई स्वर्ग में जाता है नारायण कोई भगवान के धाम में जाता है और कोई मुक्त हो जाता है तो मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व मिटता नहीं है दुनिया में जितने मजहब हैं मजहब वो हो ही नहीं सकता जो मरने के बाद आत्मा को न मानता हो कोई भी धर्म हो ईसाई हो मुसलमान हो फारसी हो सिख हो यहूदी हो नारायण मरने के बाद सब आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं बौद्ध हो जैन हो कोई भी हो ईश्वर को माने कि न माने इसमें तो मतभेद है बौद्ध जैन ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन आत्मा को वे मरने के बाद भी वासनात्मक रूप से मानते हैं और नारायण मरने के बाद भी सब धर्मों में कुछ न कुछ किया जाता है नारायण जब धुंधुकारी जी मरे बड़ी दुर्गति हुई उनकी प्रेत हो गए और गोकर्ण जो पैदा हुए थे उस आम के फल से गाय ने जो आम का फल खाया था महात्मा का दिया हुआ उससे गाय के पेट से गोकर्ण पैदा हुए थे और वे तो बड़े धर्मात्मा सदाचारी भगवत तत्व के ज्ञाता थे उनके कान तो गाय के समान थे और ये उनका नारायण आदि भौतिक रूप का वर्णन किया हुआ है अभी भी कई तरह के बालक पैदा होते हैं देखने में आते हैं आ, किसी के सींग हो जाती है किसी के चार हाथ हो जाते हैं किसी के छह उंगली हो जाते हैं किसी के दो दो सिर हो जाते हैं किसी के चार पांव हो जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं तो वो पैदा तो हुए मनुष्य के रूप में लेकिन दोनों कान उनके गाय सरीके थे माता की तरफ बड़े भारी ज्ञानी थे सदाचारी थे धर्मात्मा थे उन्हीं के उपदेश से पिताजी ने तो अपनी मुक्ति प्राप्त कर वो लोक में चले गए और वो चले गए तीर्थ में इधर धुंधुकारी की ये दुर्दशा हुई अब जब कभी लौट के अपने घर में आए तो प्रेत के रूप में धुंधुकारी की का दर्शन उनको रात के समय हुआ और उसने प्रार्थना की कि हमारी ये दुर्गति मिटाओ गोकर्ण ने सब महात्माओं से सलाह की अब सलाह से नारायण कोई समस्या हल नहीं हुई कि इस धुंधुकारी की दुर्गति कैसे दूर हो सकती है कैसे सदगति हो सकती है महात्माओं से उन्होंने पूछा महात्माओं ने ये सलाह दी कि सूर्य की गति का स्तंभन करो नारायण तो सूर्य की गति का उन्होंने महात्मा के संकल्प में कितना सामर्थ्य होता है महात्मा का चित्त ही आकाश है वो अपने को आकाश चित्त का चित्ती के रूप में अनुभव करता है आकाश कोश तनवो तनवो महानता जिसमें सूर्य नारायण घूमता रहता है वो आकाश मेरा स्वरूप है और जब संकल्प दृढ़ हो गया सूर्य को उन्होंने स्तंभित कर लिया और सूर्य को स्तंभित करके पूछा इसकी सदगति कैसे होगी सूर्य भगवान ने बताया कि इसके लिए श्रीमद भागवत का तुम श्रवण श्रावण कराओ अब नारायण आपको मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ हमारे भाई जी हनुमान प्रसाद जी थे उनको यहाँ एक पारसी मृत पारसी प्राप्त हुआ था मिला था समुद्र के किनारे तो भजन करते थे तो ये सब तो कुछ नहीं था मेरे ड्राइंग था हाँ। और उसने बताया कि हमारे इतने पच्चीस हजार रूपये हम जगह रखे हुए हैं घर वालों को पता नहीं है आप उनको बताइए जब मिलेगा तो आपके कहे अनुसार हमारा श्राद्ध कर रहे हैं तो भाई जी ने उसका श्राद्ध करवाया तो हमारा भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ के मरने के बाद आत्मा की सदगति श्रीमद भागवत से ही होती है तो गोकर्ण ने फिर सूर्य की आज्ञा मान करके श्रीमद भागवत किया और पहली बार तो धुंधकारी की मुक्ति हुई विधि पूर्वक पाठ करने से और दूसरी बात ये सामाजिक भौतिक रूपता इसमें ये है कि समाज का समाज जो है सुखी हो गया और दुर्गति से मुक्त हो गया सामाजिक लाभ हुआ ये सब कथा सुना करके सनकादिकों ने नारद जी से ये कहा कि नारद जी अब तुम भी भक्ति की परिपुष्टि के लिए संतुष्टि के लिए श्रीमद भागवत श्रीमद भागवत का अनुष्ठान करो और उसके लिए उन्होंने गंगा तट बताया वैसे विधि में ये बात कही गई है कि भागवत जब सुनने को मिल जाए तभी सुनना चाहिए उसमें काल का विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि काल जो है ये तो खंड खंड काल तो कल्पना के अनुसार होते हैं अखंड जो काल है वो तो एक ही है और हमेशा सब में एक रहता है नारायण काल को द्रव्य मानने वाले तो केवल नारायण न्याय वैशेषिक जैन और मीमांसक हैं बाकी सब जो है तो वो तो काल को द्रव्य मान नहीं मानते हैं कोई मानता है भगवान का संकल्प है काल और कोई मानता है महत्व की वृत्ति है काल कोई मानता है अविद्या की वृत्ति है काल कोई मानता है कि ये तो केवल क्रम जो मालूम पड़ता है पदार्थों में इससे काल का अनुमान होता है काल कोई वस्तुता पदार्थ नहीं है इस तरह काल के संबंध में अनेक भगवान की ये शक्ति है ये चेष्टा है ये संकल्प है तो बाबा ये ख्याल नहीं करना कि कब हम भागवत सुन रहे हैं जब मिल जाए दिनानाम नियमो नास्ते सर्वदा श्रवणम मतम हर समय भागवत का श्रवण किया जा सकता है और देश के संबंध में ये नियम है कि वैसे गंगा आदि का तट बड़ा पवित्र स्थान है पर जहाँ भी भागवत श्रवण करने के लिए मिल जाए वो स्थान ही पवित्र हो जाता है और व्यक्ति का भी विचार मत करो कि सुनाने वाला कौन है भागवत सुनने को चाहिए सिर्फ और श्रीमद भागवत की बात आनी चाहिए अब भागवत श्रवण करने में यदि भोजन से अनुकूलता रहती हो तो खूब भोजन करना चाहिए हो और सुनना चाहिए हाँ। और यदि उपवास से मन लगता हो तो उपवास करके रहना चाहिए एक बार खा के रहना चाहिए धरती में सो के रहना चाहिए अमुक अमुक जो चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए और अमुक अमुक लोगों से दुनिया की बात नहीं करनी चाहिए किसी की बेटी की बहू की राजनीति की ये सब चर्चा नहीं करनी चाहिए अपना मन पूरी तरह से श्रीमद भागवत में लगा करके श्रवण करना चाहिए नारद जी ने आयोजन किया महाराज श्रीमद भागवत का गंगा जी के आनंद तट पर जो लोग अपने को बड़ा समझते थे उनको भृगु जी ने आमंत्रित कर करके बुलाया वैसे विश्व के तीनों लोग के साथ ऋषि महर्षि जो है वहां इकट्ठे हो गए और नारायण वहाँ उन्होंने भक्ति के कल्याण के लिए बड़ा भारी भागवत का अनुष्ठान किया सब वेद शास्त्र पुराण वहाँ आए और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आए और नारायण जब भक्ति का विलास सबके हृदय में जब हुआ तो उस समय उस समय साक्षात भगवान नारायण और गरुड़ पर चढ़ करके वहाँ आए ब्रह्मा आए नारायण शंकर जी आए अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए ब्रह्मा जी की पत्नी तो पहले ही आ गई थी उनका नाम सरस्वती है वो बाचाल है वो नाम है वो भागवत की कथा गए कैसे और वो तो पहले ही आ गए थे लेकिन शंकर जी तो भवानी को लेकर आए विष्णु लक्ष्मी को लेकर के आए और इंद्रादि देवता आए और महाराज सुखदेव जी धीरे धीरे श्रीमद भागवत का पाठ करते हुए सोलह बरस की उनकी उम्र और श्याम वर्ण और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं और मंद मंद मुस्कुराते हुए नारायण और शरीर में रोमांच भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए अवधूत के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज आए सब लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया ब्रह्मा विष्णु महेश बैठ गए भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए और वहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा अब उसमें प्रहलाद जी तो महाराज तबला बजावे हाँ, प्रहलाद जी तबला बजावे अब इस तरह से नारद जी जो है वो अपनी वीणा बजावे और कोई नारद कोई बाजा कोई मृदंग बजावे कोई भाव बतावे और भक्ति ज्ञान वैराग्य वहाँ सबके बीच में प्रकट होकर के नृत्य करने लगे और भगवान ने अंत में ये वरदान दिया कि जहाँ जहाँ भागवत होगा वहाँ वहाँ हम सब लोग आवेंगे सब देवता आवेंगे सब ऋषि आवेंगे नारायण भक्ति ज्ञान वैराग्य आवेंगे वहाँ लक्ष्मी आवेंगे सबको धनाढ़ बनाने के लिए वहाँ पार्वती आवेंगी सबकी दुर्दुर्गा सबकी रक्षा करने के लिए वहाँ सरस्वती आवेंगी सबको ज्ञान देने के लिए और जहाँ जहाँ ये श्रीमद भागवत होगा वहाँ परम कल्याण की प्राप्ति होगी श्रीमद भागवत में बताया हुआ है कि जब तक मनुष्य श्रीमद भागवत श्रवण करता रहेगा भागवत में बैठ करके श्रवण करेगा तब तक उसकी मृत्यु उसकी मृत्यु नहीं होगी और जो पुत्र चाहेगा उसको पुत्र मिलेगा जो धन चाहेगा उसको धन मिलेगा जो अपनी आयु की वृद्धि चाहेगा उसकी आयु को की वृद्धि मिलेगी जो रोग की निवृत्ति चाहेगा उसको रोग की निवृत्ति होगी और नारायण जो अल्पायु है वो दीर्घायु हो जाएगा ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का रसमय स्वरूप है और इसका मिलना बहुत दुर्लभ है इसलिए बड़े प्रेम से श्रीमद भागवत का श्रवण करना चाहिए कथा चित्ता अपने मन को कथा में लगा देना चाहिए आगे अभी कथा आवेगी श्रीमद भागवत की जब मैं सुनाऊंगा तो जैसी जैसी कथा होती जाए उसमें अपने मन को साथ साथ घुमाते चलना चाहिए और जितनी देर भागवत की कथा में बैठे कम से कम उतनी देर संसार की चिंता को बाहर फेंक दें और खूब आनंद से बैठ करके सुने इसका श्रवण ही ये ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने नारद जी को यही उपदेश किया कि नारद जी तुम ये संकल्प करो कि जो जो श्रीमद भागवत श्रवण करे उसके हृदय में भगवान की भक्ति आवे यथा हरव भगवती नृणाम भक्ति भविष्य से अधिकार अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय जैसे कर्म के प्रारंभ में संकल्प होता है पहले ब्राह्मण लोग संकल्प कराते हैं और उसके बाद उसके बाद वो जग जागा भी पूजा पाठ आदि कराते हैं पहले संकल्प होना चाहिए तो संकल्प में क्या होता है पहले भगवान का स्मरण होता है फिर ये समय अनुकूल है इस बात का चिंतन होता है उसके बाद ये स्थान अनुकूल है इसका चिंतन होता है और फिर जजमान कौन है उसकी परंपरा कैसी है इसका चिंतन है हमारा वंश कैसा है खानदान कैसा है आपको कोई भी काम करना हो तो भगवान का स्मरण करके परिस्थिति के अनुसार उचित देश में और जिसके बारे में परंपरागत अपना ज्ञान हो वो कर्म और एक खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और खास विधि के द्वारा नारायण और खास करने वाले श्रमिकों के द्वारा जैसे करते हैं ऐसे उस कर्म को करें आप आपको सफलता मिलेगी वो संकल्प माने योजना योजना हो जैसे योजना बनाते हैं इस प्रकार योजनाबद्ध कर्म करने की प्रक्रिया तो आप अपने जीवन के संबंध में एक संकल्प कीजिए और उस संकल्प के अनुसार श्रीमद भागवत का श्रवण कीजिए ये आपके संकल्प को ऐसा बना देगा कि वो मूर्तिमान होकर आपके जीवन में प्रकट हो जाए अब आगे का जो प्रसंग है वो आपको सायंकाल साढ़े पांच बजे से सात बजे तक सुना थे कल से कल सुबह यहाँ साढ़े सात से कीर्तन भजन होता रहेगा और पौने आठ बजे श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन से बच्चू भाई सब लोगों को लेकर के यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पौने आठ से श्रीमद भागवत की कथा शुरू होगी और नौ बजे के स्थान पर अब सवा नौ तक सवा नौ तक जाएंगे ओम शांति शांति palsu. Pravata? Oh, pravata to gaon ki ऊपर Terima kasih telah menonton! उत्तम के साथ आते हैं तो श्रीमद भागवतम है श्री से युक्त भागवत इसकी बहुत बड़ी शोभा है ये सबसे श्रेष्ठ है ये भी श्रीमद कविता है जैसे आजकल किसी का नाम ले और उसके साथ सर लगा दें तो उसका आदर हो जाता है किसी प्रकार पहले आदर से किसी का नाम लेना होता था तो उसके साथ श्री मां श्री लगाया करते थे कोई स्त्री शब्द जब विदेश की यात्रा करने गया तो वहां से साल होकर लौट जाए कि श्री से ही साल बनाया ये श्रेष्ठता का सूचक और सुख का आनंद का सूचक ये शब्द है भगवान की अनुभव भागवत भागवत शब्द का अर्थ है किसी ने भगवान से पूछा प्रभु तुम कहाँ मिलोगे तो वैसे तो लोगों ने तरह तरह चीजें बताई है किसी ने कहा भगवान बैकुंठ में मिलेंगे तो किसी ने कहा गोलोक में मिलेंगे किसी ने कहा ब्रज में मिलेंगे तो किसी ने कहा वर्ग में मिलेंगे तो लोगों के बताए हुए जो पते होते हैं उनमें कभी भूल भी हो सकती है कभी भगवान मिले कभी न मिले लेकिन भागवत उसको बोलते हैं कि भगवान ने स्वयं अपने मिलने के लिए जो उपाय बता दिए हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवान ने अपनी प्राप्ति का जो उपाय था ब्रह्मा जी को बताया ब्रह्मा ने नारक को बड़ी करुणा से वृंदावन में बोलते हैं किसी ने किसी गोपी ने पूछा कहा मिलोगे प्यारे तो भगवान ने कह दिया कदम करे आ जाओ कटने भाई कदम के नीचे आ जाना अब भगवान वहां मिलेंगे इसमें कोई शंका नहीं रही इस प्रकार इस भागवत में भगवत प्राप्ति के लिए उपाय बताए हुए हैं तो भागवत भगवान के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ होने से इसका नाम भागवत है भगवत प्राप्ति का उपाय इसमें है इस देश को भागवत कहते हैं और ये स्वयं भगवान का स्वरूप है बांगमय अवतार है इसको भागवत कहते हैं और इसमें भागवत जो बड़े बड़े भक्त हैं भगवान के उनका चरित्र है ध्रुव प्रहलादादि का इसलिए भी इसको भागवत कहते हैं भागवतानम पुराणम भागवत पुराणम इसमें भक्तों का चरित्र भरपूर है क्योंकि ये भगवान के द्वारा कहा हुआ है भक्त लोग भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं और भगवान अपने भक्तों के चरित्र का वर्णन करते हैं तो भगवान ने अपने भक्तों की महिमा इस ग्रंथ में बताई है अठारह हजार इसमें श्लोक है और तीन सौ पैंतीस अध्याय है और बारह स्तंभ है ये साक्षात भगवान का स्वरूप है सिर से लेकर के पांव तक पांव से लेकर के सिर तक ये साक्षात भगवान का स्वरूप है दसम स्कंध इसका हृदय है ये जो आप श्रीमद भागवत के संबंध में सुनते हैं एक एक शब्द इसका भगवान का रूप है और आपके स्थान में भगवान इसके द्वारा प्रवेश करते हैं श्रीमद भागवत के प्रथम अध्याय में जो मंगलाचरण है वो सारे श्रीमद भागवत के सार का अभिप्राय का वर्णन कर का है

इसलिए गायत्री का गायत्री का सार इस श्लोक में है ये बताते हैं सभी को माने सभी को पद का तो ऐसी एक पद का उपनिषदों में जो बताया कि परमेश्वर के जगत की सृष्टि हुई उसका भी इसमें वर्णन है ये जो संसार विचित्र संसार दिखाई पड़ता है जिसमें तरह तरह के मनुष्य हैं पशु हैं पक्षी हैं ये पर्वत हैं जंगल हैं तरह तरह के वृक्ष हैं ये कोई अज्ञात शक्ति से उत्पन्न नहीं हो सकते इसके निर्माता को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान साक्षात भगवान ही है जड़ से इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती इतनी सुंदर रचना इतनी अचिंत्य रचना सिवाय भगवान के और किसी के द्वारा संपन्न नहीं हो सकते यदि समुद्र जिस स्तर पर रहता है यदि इससे ये दो फुट ऊपर होता तो चंद्रमा के आकर्षण से इतना उछलता कि इसके किनारे पर कोई बस्ती नहीं बस सकती थी यदि सूर्य जितनी दूरी पर धरती से रहता है यदि उससे दो फुट भी पास होता तो इतनी गर्मी पड़ती धरती पर कि लोग जल जाते इतनी व्यवस्था के साथ ये जो सृष्टि बनाई गई है ये साक्षात भगवान के द्वारा ही बनाई गई है और भगवान ने ये सृष्टि किसी दूसरी चीज से नहीं बनाई है जैसे कुम्हार बनाता है घड़ा तो मिट्टी से घड़ा बनाता है और कुम्हार खुद अलग रहता है लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में सदैव सौ में लग्रे राशि एकमात्र परमात्मा ही था उसने किसी दूसरी चीज से दुनिया नहीं बनाई अपने आप से ही स्वयं कुमार है और स्वयं माटी है और उसी से ये ब्रह्मांड घाट बना हुआ है इसलिए परमात्मा के बिना ये दुनिया हो नहीं सकती और परमात्मा इस दुनिया के बिगड़ जाने पर भी जैसे घड़ा के फूट जाने पर भी मिट्टी रहती है इस प्रकार परमात्मा रहता है तो नारायण वो सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है और उसने जानबूझ करके ये रचना की है और न केवल आकारों की सकल सूरत ही उसने नहीं बनाई है बल्कि जो लोगों के हृदय में ज्ञान है वो भी उसने दिया है क्योंकि परमात्मा के सिवाय इतना श्रेष्ठ ज्ञान और दूसरा कोई दे नहीं सकता है तो ये जो हम लोगों को मालूम पड़ता है कि ईश्वर के सिवाय ये कोई दूसरी चीज है या ईश्वर कहीं हमसे बहुत दूर रहता है हमारे मन में आता है ईश्वर कहीं दूर होगा क्या नहीं ईश्वर में दूरी नहीं है अच्छा ईश्वर के मिलने में देर होगी तो देरी भी नहीं है और ईश्वर कोई दूसरा भी नहीं है केवल हम उसको पहचानते नहीं है न पहचानने के कारण सामने रहता हुआ भी ईश्वर हमारी पहचान में हमको मिलता है ईश्वर कहीं गया नहीं है कहीं पीछे नहीं छूट गया है कहीं आगे नहीं चला गया है कहीं दूर नहीं है कोई दूसरा नहीं है ईश्वर तो यही है अभी है यही है अपना स्वरूप ही है परंतु अज्ञान के कारण उसका बोध नहीं होता उसी अज्ञान को दूर करने के लिए ये परमात्मा का प्रकाश ये श्रीमद भागवत प्रकट हुआ है जिससे हम अपनी पूर्णता को समझ हैं हम अपने को इतना दरिद्र समझते हैं पैसा ना हो तो दरिद्र मकान ना हो तो दरिद्र परिवार ना हो तो दरिद्र शरीर में पूर्णता ना हो तो दरिद्र नहीं हम अपनी ईश्वरता को जो हमारे आत्मा में ही हमारे हृदय में ही भरपूर है